मेरे बंधुओं सबको नमन प्रणाम आशीर्वाद दे मैं आपसे अनुरोध करना चाह रहे अभी हमको ये बताए गए अनुसंधान क्यों करें उसके पहले ये भी बताने को कहा है कि यथास्थिति में हमको क्या परेशानी होगी ये बात इस बात पर हम उपास करने के कुछ कहने के लिए कहा मैं सोचता हूँ यहाँ जितने भी उपस्थित हैं मेरे मन में ध्यान से बताइए अपने विचार को जय हो मंगल हो कल्याण हाँ। मूल मुद्दा ये यथार्थ ये है हम सब ज्ञानी विज्ञानी ज्ञानी के रूप में स्पष्ट करनी है हम सभी जितने भी धरती पर आदमी जात है वो सभी का धरती ज्ञानी के रूप में वैज्ञानिक के रूप में ज्ञानी के रूप में वैज्ञानिक के रूप में कहें ये शायद है आप लोगों को अनुकूल है प्रतिकूल है बताइए बस तो उन्हें ऐसे सभी मिलकर के जो कुछ भी किए वर्तमान तक तो पहले ये पहले के बाद वर्तमान समाप्त हो गए और दूसरा खनिज समाप्त हो गया इन दोनों समाप्त होने से धरती पर रहने योग्य नहीं है ऐसा लोग कह रहे हैं विज्ञानी लोग ऐसा कह रहे हैं ये सब बात को हम सुनते ही हैं इन सबको सब सुने ही नहीं ये मानता हूं मैं उसके पश्चात इसके आधार पर हम आगे सोचने की बात आती है ये जो रहने योग्य नहीं ये तो हम बना दिया रहने योग्य बनाने का भी कोई सोच नहीं ऐसा भी है कि आज स्वयं को बात आ उस पक्ष में मैं कहा साहब रहना ही होगी धरती पर आदमी रहना ही होगी कैसे हो सकता है उसके बारे में अनुसंधान किया हमारा अनुसंधान का उद्देश्य है तो ये ये स्पष्ट करने के लिए कोशिश किया है अब स्पष्ट हुआ नहीं हुआ आप ही लोग शोध करके बताएंगे सब लोग हर व्यक्ति को शोध करने का अधिकार है समझने का अधिकार है उस पर अपना विचारों को व्यक्त करने का अधिकार हर व्यक्ति आज पैदा हुआ बच्चे में भी वो अच्छा आज कल मरने वाले आदमी में भी वो अच्छा है ठीक है उसके आधार पर हम अभी विनय कर रहे हो वर्तमान में हम प्रकार अपराध परंपरा में हम फंसे तो पहले इसके पहले हमारे बुजुर्गों ने यह भी लिखे वेद विचार में लिखे दिया है कि भक्ति विरक्ति से करें अभी मैं भौतिकवाद आया ये ये ये आर्थिक उस जगह में पहुंच गया पहले से आदमी जात प्रलोभन से ग्रसित रहा है उसके आधार पर सुविधा संग्रह में फंस सुविधा संग्रह के चलते ये धरती धरती के खनिज वर्ग ये दोनों ध्वस्त हो गए ध्वस्त होने के फलस्वरूप का परिवर्तन हो गया प्रतिकूल होता गया धीरे धीरे और धरती की धारो धरती में भी विज्ञानी लोग कह रहे हैं कि भाई पंद्रह डिग्री उष्मा बढ़ गई धरती में और पंद्रह डिग्री बढ़ने की पश्चात आदमी इस धरती पर रहेगा ऐसा कहा है तो अभी ये पंद्रह डिग्री कैसा पहुंचना बढ़ गई पहले सन पचास के पहले ही मतलब रहे विज्ञानी लोग कि धरती ठंडा हो अब पचास के बाद गर्म होना एक तो हाथ से गर्म हो गए इसके बारे में शोध किया तो पता चला कि ये कोई भी हजारों बार ये न्यूक्लियर न्यूक्लियर फैक्ट्री धरती ये, ये सभी धरती मिल करके तो दो तीन हजार बार न्यूक्लियर टेस्ट होती धरती में ही इन सबको नाते क्या चीज है उष्मा को ना कितना उष्मा पैदा है इसको इसको देखने पर सारे धरती में समाये आएंगे और ये उड़ गए पूछने पर पता लगता है धरती में ही समाये इससे धरती की उष्मा बढ़े न गर्मी बढ़ी बुखार हो बुखार होने की पश्चात और पंद्रह डिग्री की प्रतीक्षा करें ठीक है तो उसके बाद इसके साथ साथ ये और एक वातावरण पैदा हुआ पर प्रदूषण छा गया तो उष्मा का विसर्जन उष्मा का होना इंधनावशेष उष्मा पैदा करने पर एक इंधनावशेष तैयार है उसी इंधनावशेष से पूरा परीक्षण पड़ गया इन दोनों विपदाओं के आधार पर मनुष्य जानना काफी उत्तर है प्रश्न की इस धरती पर रहेंगे या नहीं रहेंगे इस पर रहेंगे इसको ध्यान में रखते हुए ये पूरे शोध अनुसूचित इन चौदह अनुसंधान में ये प्रवृत्ति है प्रवृत्ति पैदा किया जा सकता है प्रवृत्त हो सकते हैं हर व्यक्ति प्रवृत्त हो सकते हैं हम स्वयं प्रवृत्त हैं तो क्या इस बात की प्रवृत्त हम बच्चे हैं न्याय किसके साथ होता है मानव के साथ होता है प्रकृति के साथ होता है इसको इसको अनुसंधान किया है इस पर भी बातचीत होगी थोड़ा सा थोड़ा सा बात हो गई और पूरे बात जो है ना ये हमने कह दे दिए तो अभी अनुसंधान क्यों वाला बात है उसको भी लिखे दिया अनुसंधान इसी को तय किया जाता है तो अच्छा रहना योग्य नहीं है इसको हम बना लिया आसानी से किंतु रहना योग्य भी बनाने का कार्य है उसको अनुसंधान नाम ठीक है ये यहाँ तक हम पहुंचे अनुसंधान नाम है इन अनुसंधान में क्या कर दिया तुमने ऐसा पूछा जाता है पूछा जाता है तो उसके लिए उत्तर हमारे पास ये है हम स्वयं एक वेद मूर्ति परिवार के संतान मेरे आयु इस समय में शरीर का आयु नब्बे वर्ष तो इन नब्बे वर्ष में से तीस वर्ष हम घर में हमारा परंपरागत कार्य के अंदर हम काटते हैं और तीस वर्ष के बाद साठ वर्ष के अनुसंधान अनुसंधान को मानव को अर्पित करने के कार्य में समय समय समापन किया तो ये छोटा सा कर्ता लिखा आपको बताए उसके बाद जो इन अनुसंधान में क्या क्या हुई कैसा किया वाला भाषा तो इसके लिए हमारा शास्त्रों में लिखा है तो अज्ञात को ज्ञात करने के लिए समाधि एकमात्र है हाँ उन उसके उस पर विश्वास करते हुए अमरकंड तत्वन को संस्थान मानते हुए अमरकंटक में पहुंचे अमरकंटक में जो साधना किया साधना किया समाधि को देखा पता चला समाधि में कोई ज्ञान नहीं दूसरा कंटक का कहना तो समाधि में जब ज्ञान नहीं हुआ क्या हो गया तो हमारा आशा विचार चुप होता हुआ हम देखते बरसों एक दो वर्ष ऐसा देखता था अभी ज्ञान होगा अभी ज्ञान होगा ऐसा कोई ज्ञान नहीं हुआ उसके बाद संयम नाम की प्रक्रिया की संयम नाम की प्रक्रिया करने पर प्रकृति के हर बात को अध्ययन कर हैं प्रकृति में जो प्रकृति स्वयं सहअस्तित्व स्वरूप में पूरा कम अस्तित्व स्वयं सहस्तित्व में है स्वरूप में है ये बात हमको बोध हुआ ज्ञान हुआ उसको अनुभव प्रकट जी करके प्रमाणित करने के रहता एक ऐसे देखे प्रमाणित करने के क्रम में अपरस्परता में विश्वास होता है जीने में विश्वास होता है और किसी में कहने में विश्वास नहीं हो कहने सुनने में कोई विश्वास हो गए ऐसा कुछ नहीं जीने में ही विश्वास ऐसा हम स्वीकार अब जिन्हें देते हुए अब लोगों को कैसे पहुंचा जाए पहुंचाने के लिए शिक्षा पूरा का पूरा एक सुधार मैं है वांग्मय तैयार करने पर बहुत सारे किताबें बने हुए हैं उसको अध्ययन करने के लिए प्रस्तुत किया उसके बारे में कहते हैं तो अध्ययन का क्या फल होगा वो भी बताए हम जो समझा समझने पर यही बता देगा मानव समझदार और इन सब अनुसंधान वृद्धि से समझदार होने में क्या प्रकटे हुए समाधान समाधान सभी आयामों के लिए कोणों के लिए और परिप्रेक्षण के लिए समाधान उपलब्ध समाधान को जब प्रकाशित करने लगे लोगों तो में कोई ऐसा लगा हमको भी चाहिए हमको भी चाहिए ऐसा होते होते यहां तक हम आए ये बात ये छोटा सा बात इन छोटे से बड़े बड़े बात तो बहुत सारे लोग कर चुके हैं अपन छोटे बात से शुरू किया ठीक है ये यह प्रोसेस ऐसे अनुसंधान करते हुए हमको ये ज्ञान हुआ हम स्वयं अच्छी तरह से समाधान पूर्वक लेना होता है समाधान के साथ यदि समस्या नहीं है हम हम संप्रमाणित नहीं हो सकते ये भी बात है प्रमाणित होने का समस्या का क्या प्रयोजन शरीर पोषण संरक्षण समाज में वस्तु की नियोजन ये संपूर्ण वस्तु यदि नियोजन है वो इसी में तीन बात है शरीर पोषण में संरक्षण में और हाँ, समाज गति में अपनी संपूर्ण हो अभी तक क्या किया तो परमात्मा में विज्ञान विज्ञान दूरश्रवण दूर गमन दूर दर्शन को प्राप्त कर प्राप्त करके उसमें क्या हो गए अतिव्याप्या नाम है अतिदोष जिसके पास नहीं है नहीं रह गया अब जिसके पास हो गया तो दो दो एक एक आदमी के पास दो दो गाड़ी ट्रैक कर गए ऐसा बात हो इससे इस सब व्यतिरिक्त से हम हमारा उत्पादन कार्य कहीं भी नियंत्रण नहीं है हमारा उत्पादन कार्य में नियंत्रण न रहने से क्या हुआ प्रकृति हो गई क्या प्रकृति के प्रति सर्वप्रथम बताया था नाराज हो गई और बुखार आ गए तो उसके बाद आदमी कहा रहेगा आगे भी के रहेगा ये भी बात सोचने की होता है तो इसको इसका समाधान के लिए तो केवल आदमी ही अपराध मुक्ति हो सकता है ये भी आपको पता लगा अपराध मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा सहस्त्र समय देना पड़ेगा सहस्त्र समय देने के लिए क्या प्रवृत्ति है तो चारावस्था के साथ नियंत्रण नियम नियम नियम नियंत्रण संतुलन रूप में देना पड़ेगा नियम नियंत्रण संतुलन रूप में देना पड़ेगा ये ये हमको बोध हुआ उसको भले प्रकार से हम बोध कर रहे हैं हम स्वयं अध्ययन क्या अध्ययन जो हम करते हैं उसको पुरुषों को हम स्वयं में बोध होते हैं अनुभव करते हैं और जीते हैं जीने की क्रम है हम दूसरों को बोध कराते ये बात ये इन इन तस्वीर आने के बाद इसको हमने भले प्रकार से प्रैक्टिस किया अभ्यास किया और उसके आधार पर अभी हम देश में काफी दूर दूर तक एक आवाज को सुनाने योग्य आवाज को सुनने में आया है इसमें दो राय नहीं उसके बाद यदि किसी को अध्ययन करने की इच्छा भी हुआ है यदि तो यदि अभी इस समय में तो अध्ययन कार्य में लगे हुए जो ज्यादा से ज्यादा तो रायपुर में रायपुर में शिक्षा विभाग के तीनों भाग जो एक भाग है व्यवस्था के एक भाग है प्रशिक्षण के एक भाग है शोध इन तीनों मिलकर के अध्ययन तो सब लोग अध्ययन कर रहे हैं ऐसा बात हो रही है इन सबको देखने पर पता रहता है लगता है अभी उनसे बात किए चले पर था तो वो कहते हैं प्रमाणित होने के लिए ऐसा कारण इस प्रकार से हालात में अपने में प्रमाणित होने का अधिकार रखता है हर बच्चे बड़े सब बुजुर्ग सभी प्रमाणित होने का अधिकार मनमान ये नहीं स्वीकार इसके आधार पर शिक्षा पद्धति को तय शिक्षा पद्धति को तैयार करने में उसका नाम हो चेतना विकास मॉडल चेतना विकास मॉडल शिक्षा के रूप में अच्छे तरह से अभी अध्ययन कर रहे हैं उसमें प्रमाणित करने के लिए कटिबद्ध अभी यहां भी होंगे यहां भी कभी विद्वान पर बैठ कर उस प्रकार से स्वच्छ होंगे ऐसा नहीं करते इन सबको ध्यान में रखते हुए इसका उपयोगिता हमको समझ में आता गया जैसा इसका उपयोगिता समझ में आता गया हमारा उत्साह भी बढ़ता गया उत्साह भी बढ़ता गया हम स्वस्थ रहना भी हो गए तो जल्दी शरीर त्यागने की आवश्यकता नहीं है थोड़ा देर विचार करना और देखना क्या होता है ऐसा बात होकर के हम नब्बे वर्ष का अभी तक की बात नब्बे वर्ष हो गई तो अभी अभी जो कुछ भी क्षण साथ साथ तब तक क्या परिवर्तन हो सकता है देखा जा सकता है ठीक है और आगे आप लोग सब इसका प्रयोजनों को देखने के लिए उम्मीदवार बन सकते हैं प्रयत्न की हो सकते हैं और उसमें प्रमाण कर सकते हैं प्रयोजन को सिद्ध कर सकते हैं तो इस आधार पर हम हमारा अनुसंधान का प्रयोजन नहीं तो अनुसंधान का योग्यता समझ में आने से हमारा आवाज में भी थोड़ा सा बल आया तो ये हो सकता है ये नहीं हो सकता है ऐसा कहना तो योग्य है क्या नहीं हो सकता है अपराध का विषय हम ये सत्य पर नहीं सकते क्या बात अपराधों का सामर्थ्य करके मित्र से पर ज्यादा दिन रहना ही ये बात हम अच्छी तरह से कहना योग्य दूसरा क्या कैसा कह सकते हैं समझदार हो सकते हैं समझदारी से समाधान संपन्न होकर इस दृष्टि पर बहुत छिड़काव तक सकते सकते ये भी कहना है ये कहना है कि स्वरूप है उसका अध्ययन का स्वरूप को शिक्षा रूप से प्रकट ठीक है जिससे से हमारा अनुसंधान का जो हो ऐसा होता है ऐसा होते होते इसमें सर्वप्रथम कैसा श्लोक किया जाए इसमें होते हमारे सारे विभूतियां जो ये हैं उन सब में ये प्रवृत्ति है तो जीवन विद्या से शुरुआत किया जाए अध्यय में प्रवृत्ति फैला जाए यह तो इस देवदेव जय का आनंद तो काफी देश में सभी सभी प्रांत में करीब करीब पहुंच गए वो अभी का उसी के लिए समय रहता है वहाँ कितना भारत पड़े यहाँ कितना भारत पड़े कहाँ काम किए कितना जीवन विद्या को अपनाने वाले कितने हुए उसी को परस्पर परिचय करने के लिए सम्मेलन इन सम्मेलन के उपयोग से पता लगता है संसार की जरूरत इस बात के इस अनुमान की जरूरत है समाधान की जरूरत है समझदार की जरूरत है समृद्धि की जरूरत है यह सब कह रहा ये सब है यदि इसमें समाधि में समझने में तो जितने भी हम अभी कह रहे हैं जो कैसे खेले संग्रह शब्द संग्रह शब्द है तो समझने में विजय होता है नहीं होता है सभी को यह अनुभव कर सकते इसमें हमने जो अपने अपने अनुसार जो किया तो समृद्धि समृद्धि में जो संग्रह शब्द समापन करते हैं संग्रह शब्द समृद्धि में असमापन होता है उससे हमको ये और होगा कि भाई लघु मूल्य गुरु मूल्य में समापन होता है विलय होता है तो ये बात समझ में आने से हम इसको अच्छे ढंग से लोगों तक पहुंचाने लगे हुए लोगों तक पहुंचाने की क्रम में संतुष्टि बनी हुई है उस संतुष्टि को व्यक्त करने के लिए समय एक बार तो समय अनुसंधान की आवश्यकता इस ढंग से अब अनुसंधान कैसा हो गए उसका छोटा सा बता केवल एक पच्चीस वर्ष समाधि के लिए हम लगा रहे समाधि संयम में उसके बाद उसको तो उसके योग्य बनने के लिए पुनः हम दस वर्ष लगाए उसके बाद दस वर्ष रहना संसार को जरूरत है कि नहीं है उसको सर्वेक्षण करने में लगाए उसके बाद उस सब योग्य है तो हम समर्थ तब तक के वो संत हो जाते शुरू संत हो जाते शुरू करने से अभी तक के कितना काम हो रहा है अभी आप देखेंगे समय परस्पर पर ये बात यहां तक है उसके बाद इसका प्रयोजन तो महत्वपूर्ण लगता है एक तो मानव इस धरती पर जो कैसा काम करोगे ना इसमें पूछने की इच्छा और तो कुछ सकते हैं कोई अनुसंधान क्यों बताया कैसा बताया इन दोनों को बताया ये प्रयोजन जो है बहुत गंभीर होगी उसको हम आगे बताएं तो इन दो मुद्दे पर यदि पूछने की इच्छा किसी को उसको पूछ सकते हैं उसमें हम जो समझा हूं वो प्रस्तुत करेंगे हम जो दिए हैं उसको उसका प्रमाण प्रस्तुत करेंगे ठीक है तो कोई कोई पूछना चाहेंगे अनुसंधान क्यों और कैसे का एक छोटा सा परिचय ठीक है इसका प्रयोजन को बताने के लिए भी अपेक्षा है कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ यदि नहीं पूछ रहे हैं बहुत अच्छे धन्यवाद और आगे सेमिनार इसका प्रयोजन के बारे में सोचेंगे हर मनुष्य अपने पर अपने पर जो पूछिए उसका उपयोग कर सकता है क्या पूछिए भाई कल्पना चिंता कर सकता हर हर बच्चे के पास हर बड़े के पास हर बूढ़े के पास क्या है हर बच्चे बड़े बूढ़े सबके पास कल्पना क्षेत्र का संस्था भी है उसमें मैं उसमें में उसमें से तो का संस्था का प्रयोग आज तक किया किसके आधार पर कल्पना चिंता किया था ये बना है कल्पना चिंता किया था जहां बैठे हैं वह कल्पना चिंता के आधार पर बना जो गाड़ी में घूमते हैं कल्पना चिंता के आधार पर बना आकाश में होते हैं कल्पना चिंता के आधार पर बस इन सबको तय कर समझ सकते कल्पना चिंता के आधार पर है हम सुविधा संग्रह को अपनाएंगे ये भी ये भी उसी आधार पर मनुष्य के हर मनुष्य के पास ये कल्पना चिंता कर्म स्वतंत्रता उपलब्ध है जन्म से ये कैसे आ गए जीवन और चले ऐसा हम स्वरूप में नहीं है जब मरा हुआ आदमी में ये प्रकट नहीं होगा ठीक है ना जो जो केवल तो ये शरीर हो तो भी प्रकट नहीं होगा और शरीर हो केवल नहीं हो तभी भी प्रकट नहीं इसको देखिए इसी एक इस बात से आ गई सहस जिसको नित्य प्रकट कर एक सिद्धांत सहज नित्व और प्रकृति और व्यापक वस्तु व्यापक वस्तु को कहा अच्छा माना जाता है तो ज्ञान को भी व्यापक माना जाता है और ऊर्जा को भी सामी ऊर्जा को भी व्यापक माना जाता है इन दोनों को देखने पर पता तो रहता है तो नित्य प्रकटन होकर अपने प्रति से मानव रूप में मानव अपराधी हो गए कहा जाएंगे अपेक्षा नहीं ये बातें है मुख्य बात चोट की बातें है इस चोट के बात को ध्यान में लाने से हम अच्छे तरह से समझ सकते हैं हम अपराध मुक्त होना बहुत नितान्त आवश्यक है ये बच्चा भी समझ सकते हैं बड़े भी समझ सकते हैं बच्चे समझ सकते हैं इसको हम लोगों ने छोटा सा छोटा सा प्रयोग किया है बिजनौर में में बच्चों ने जो उद्देश्य किया जो प्रकट हुआ है बच्चों में जो गुण प्रकट हुआ है उससे जो ना वो जो है बड़े बड़े बुजुर्ग लोग अपने आदतों को सुधारने लगे एक एक उसके बाद जो है ना बच्चों का जो मुखन से जो जो वहां पहुंचने वाले आगंतुक थे वो काफी चकमक आए एक ऐसे उस समय में जो हरियाणा के जो करता लोग वो भी आकर के देखा तो अच्छे अच्छे विद्वान आके देखा तो बच्चों में गुणात्मक परिवर्तन होना ऐसा कहा वो निरंतरता तो ना बनना किया था तो वो जो जगह जो जिस आदमी ने जिस आदमी ने वो जगह को अर्पण किया था वापस लेना चाहता मूर्धाधार पर्व बन सकते सरल उसके बाद अभी इसमें क्या है अचोटी नाम की जगह है रायपुर के पास वहां इसका प्रयोग किया गया प्रयोग करने से वैसे ही बच्चों में प्रमुख मुखरण जैसा बिजनौर में वैसे बच्चों में है उसी प्रकार के मुखरण वहां नहीं होते उसको भी देखा उसको शासन के सृष्टि में शासन के दृष्टि में आने से एक पर्यटन है निकला तो शासन ने शासन का ध्यानाकर्षण होने के लिए आधार बन गए आधार बन करके करीब तीन हजार से चार हजार अध्यापकों को एक तीन दिन की एक गोष्ठी तैयार की उसके लिए वहां का कलेक्टर तैयार हो गया सारे पैसों में एक घटना घटी भगवत इसको अपन एक अपने अपने दृष्टिकोण के लिए एक दृष्टिकोण के लिए तो चैन में ला सकते दृष्टिकोण को साफ साफ बनाने के लिए इस बात को भी ध्यान में ला सकते ये ऐसा बात इतने चल करके इतना दूर तक तो आ चुके तो संभावना कितना है पूछा जाए तो इसका बहुत लंबी संभावना है क्या संभावना लंबी हर मानव सुधर सकता है पहला इसका कोई अर्थ है हर मानव सुधर के सुधार अपने सुधार पूर्वक जी सकते हैं ये यहां जाता है इसका कोई लंबा चौड़ाई नापा सकता है कुछ नहीं नाप सकता तो इतना लंबी चौड़ी संभावना है तो हर मनुष्य सुधरने पर क्या हो जाएगी तीन का पाँच पांच का तो क्या हो जाएगी कुछ जाए तो यही बनता है मनुष्य जो है ना व्यवस्था में जीता व्यवस्था में जीने से क्या होगा तो स्वास्थ्य व्यवस्था ना की मैंने प्रवृत्ति सहज क्षेत्र में जो जीव है ना जैसा गाय गाय तो के साथ चित्र है वो तो अश्वत्थ वृक्ष तो अपने स्वर में देता है बीजान में ठीक है तो उसके पूर्व में जो सभी पदार्थ तो परिवर्तन के अनुसार परिणाम के अनुसार स्वर ऐसे रहता है इसको हमने चेंज किया पूरा का पूरा भौतिक वस्तु तो परिणाम अनुषंगी व्यवस्था में विषय हो रहा रह रहा इसको देखा जा सकता है समझा जा सकता है उसके बाद जो है ना वही चीज जो जीव प्राणावस्था में वनस्पति अनुसार में आकर के हम अध्ययन करते हैं तब पता चलता है वह विज्ञान संघी विज्ञान व्यवस्था नहीं हो सकती उसके बाद जीवों के पास आते हैं जीने की आशा के आधार पर घर से पहुंचाने में ये उद्देश्य है थोड़ा सा एक व्यवस्था ये थोड़ा सा अच्छे ढंग से समझने की जरूरत है सुनने अंतर से नहीं होता है कहने पर अपने में स्वीकार होता है तो मानव जो है ना मानवत्व के साथ रहना चाहिए यह तक इसलिए मानवत्व को कौन अध्ययन कराएगा ये विश्व अनुसंधान किया मानव का अध्ययन अभी शुरू हो सकता है अभी तक क्या होता है मानव का अध्ययन अध्ययन शून्य मानवता जैन को छोड़ के आदर्शवाद भी भागा और भौतिकवाद भागी रहे दोनों दोनों में मानवता अध्ययन नहीं ये परीक्षा मानव के पीछे पड़ा हुआ इसी कारण से मानव की व्यवस्था बने मनो के व्यवहार बने मनो की सोच बने एक एक परिवार में बीस प्रकार के सब प्रकार के मतभेद हो यही शरीर का झगड़े के कारण उसके लिए क्या गौ मुद्दा बने एक सौ नब्बे में समानता का रास्ता निकाली व्यवस्था के अब गरीबी अमीरी में क्या है संतुलन गरीबी अमीरी में संतुलन नहीं मिलता पाए ठीक है गरीब गरीब रहे अमीर अमीर और ज्यादा अमीर होते हैं और ज्यादा गरीब होते रहे ऐसा बात बढ़ता चले तो इसलिए से नर्मानियों में देख गई वीडियो विजन ने जितने भी प्रयोग किए जितने भी प्रयत्न किए अच्छे ढंग से बुरे सबका सब बुरे में ही परिवर्तित हो अच्छा माना तो भी बुरा में हुआ बुरा तो बुरा होता ही ये प्रत्येक का मैंने फल परिणाम अभी ये सब दोनों ये दोनों ना होने से मानव जाति उद्धार होने का रास्ता बना अभी ये जो विकल्प को प्रस्तुत किए हैं उसमें ये दोनों को संतुलित करता है न माने समाज का स्वीकार होता है आ, उसके बारे में शायद आगे आप सुनेंगे कोई ना कोई यहाँ भी होंगे सपोज मैंने पुण्य के व्यक्ति वो आपको सुनाएंगे ठीक है तो गरीबी अमीरी में भी तो सा होता है ये बात आपको बताना चाहता है ये दोनों कैसे होता है क्या सूत्र है इसका इसका सूत्र है तो, तो भगवान ने हमें समानता समझदार क्या था समझदारी में यदि दोनों में प्रवृत्ति के लिए बताया हरनर नारे में कल्पना चिंता कर्म स्वतंत्रता रखा हुआ है उसके आधार पर हरनर नारे समझदारी को अपनाता है अपनाने पर क्या होगी हर नारे में समझदारी में समानता शरीर के साथ कोई समानता होगा नहीं धन के साथ कोई समानता होगा नहीं तलवार और बंदूक के साथ समानता होगा पद के साथ तो समानता होगा पद के पद पर तो मिल नहीं सकता क्यों समानता नहीं आगे पद पर तो मिल नहीं सकता नहीं सब को कोई चला नहीं सकता धन सबके पास समान रूप में हो नहीं सकता रूप रस का एक रस हो एक रूप हो नहीं सकता रूप शरीर में ठीक है जीवन में समझता है क्या रूप शरीर में और समझदारी जीवन में ये यदि हमको समझ में आता है हमारा देश में ये बात हो हमारे आदर्शवादियों ने स्पष्ट करना चाहता रहा वो स्पष्ट हुआ हो नहीं पाया या कहीं ना कहीं पसंद हुआ है उसके आधार पर हुआ है या पूरा पढ़ाना ही इसीलिए प्रमाणित नहीं मैंने पूरे बात नहीं हुई है इसी का से नहीं हो पाया ये भेद स्वतंत्रता है और कोई ना कोई बीच में जो है ना जो पंडित लोग तो हाथों में अब इकट्ठा हो गया हो यह भी हो सकता है दोनों बात हो सकता है इन दोनों बातों में कुछ भी हो आगे के परंपरा में ये डिजायर नहीं चाहत समझदारी की है हर व्यक्ति अभी जितने बैठे हैं नहीं बैठे हैं सब में समझदारी की चाहत बने यह बच्चे में भी बना है और बढ़ने में भी बना है विवाह में भी बना और करोड़ में भी बना ये इसको हम अच्छी तरह से समझाऊं मेरा विश्वास ये है कि हर व्यक्ति समझदार होना चाहता है उसके लिए उसके लिए अवसर पैदा किया जाए वस्तु वस्तु को वस्तु से समर्थ हुआ जाए उस कार्य उस के लिए भागीदारी करने के लिए आप हम सब यहाँ प्रकार अंतर उद्देश्य से आगे रहे ऐसा नहीं मेरा ठीक और कितना कितना रहना कितना रहना तो ठीक फिर इसको जो है ना और आगे बढ़ाते हैं तो, तो एक तो दो प्रोविजन है क्या नरनारायण में समानता और करेंगे मेरे में संतुलन ये संतुलन होने की स्थिति में हम इस धरती पर हमारी काल तक सकते जिस प्रकार से हम अपराध में प्रवृत्त हो गए हैं अपराध का स्वरूप क्या है अपराध का स्वरूप अपराध का स्वरूप में तीन वर्ष प्रधान उप प्रधान बैंक तो प्रधान वस्तु तीन क्या तो चीज है तो खनिज को इलाज खनिज से रेडिएशन जो विकिरणी धातुएं हैं उसको शोषण करना चाहिए यह शक्ति में शक्ति या तो पुरुष होने की स्थिति है और खनिज से खनिज इलाज को अपहरण करना चाहिए तो शक्ति में संतुलन का आधार ये तीन मध्यमी वस्तु है प्रधान रूप में ये असंतुलन का तो रजिस्टर जो तो विकेजिंग था तो उनका प्रयोग हुआ है बताया आपको तीन हजार से अधिक बार उसमें उष्मा को पैदा किया गया है सारे बात अर्थात उष्मा धरती में समाया गया है फलस्वरूप धरती बीमार हो गई अर्थात रोग बुखार आ गया बुखार होने इसमें आधार भरम हो ये हो गए कारण इतना ही था इस आधार पर हम कहीं कहीं भी कहीं भी रहने के धरती में धरती यदि स्वस्थ रहेगा मानव स्वस्थ रूप में कुछ कर सकता है धरती स्वस्थ नहीं रहेगा तो मानव क्या स्वस्थ रूप में करेगा कहाँ करेगा बात है यहाँ अध्यक्ष में इस पर सोचने के लिए बहुत सारे विभूतियां बैठे हैं धर्म अनुमान में ये विवेचना करने के अधिकार है तो इसको सोच करके तय करना पड़ेगा हमको धरती को संतुलित रख सकते जीना है कि नहीं यदि जीना है अपराध प्रवृत्ति से मुक्ति मुक्त होना आवश्यक ठीक है अपराध प्रवृत्ति का सूत्र कहना है मनुष्य में बताया संवेदनाओं को स्पष्टी संवेदनाओं के पीछे पागल होना बराबर अपराध प्रवृत्ति में फंसना किसी को शंका है इसमें संवेदनाओं को संतुष्टि देने के लिए हम डरते हैं तो अपराध के अलावा डॉक्टर को हैं ठीक है हर हाँ, एक समाधान पूर्वक जीने के लिए अच्छे हैं समझदार समझदारी के अलावा दूसरा को छोड़कर क्या बात हो गई यदि समझदारों को संतुष्ट करने के लिए हम दौड़ते हैं अपराध के अलावा दूसरा कुछ करवे नहीं करेंगे सोचे हुए नहीं करेंगे ठीक है इसके लिए एक छोटी सी एक संयोग था तो ये रायपुर में एक ऐसा संयोग था पच्चीस पच्चीस से मर्द जिनके यहाँ नोट को खाने में दिमक मुकर गए क्या बता क्या बता जिनके यहाँ नोट को काटने में दिमक मुकर गया ऐसे परिवार के पच्चीस तीस नाच उनके पीछे उनके बीच में इस बात को पूछा गया क्या हमें हर मरना अपने संविधान छोड़ दो संतुष्टि के लिए दौड़ना जरूरी है या नियंत्रित करना चाहिए संवेदनाओं को नियंत्रित बनाए रखना जरूरी है या संवेदनाओं के पीछे पागल होना जरूरी है इस बात को पूछे पूछा गया तो करीब दो दो ढाई घंटा लगाए चर्चा है अंत में ये एक वाक्य बताया यदि संवेदनाओं के पीछे दौड़ते हैं जानवरों से अधिक कुछ जानवरों से अधिक कुछ है और संवेदनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं तो तत्व मानव बन सकते अच्छा ठीक है ये सब सर्वेक्षण हो चुका है कहने का इसको हर व्यक्ति अपने में शोध कर सकते हैं हम कितना संवेदना के पीछे लगे हैं संवेदनाओं को कितना हम नहीं कर रहे हर हर नागरिक इसको परीक्षण कर सकते हैं और उसके आधार पर बच्चों को उत्पोषण कर सकते हैं बच्चों को तैनात कर पाए ठीक है ये बात ठीक है ये स्वीकार होता है कि नहीं होता आप क्या सर आप क्या सर आप क्या ऐसा बात ये ये ये इसको कर देता है तो सारे समस्या कहां से पैदा होता है संवेदनाओं को संवेदनाओं के पीछे बच्चों होने से और उसको प्रत्येक प्रत्येक प्रदान करने के लिए हम जितने भी कोशिश करते हैं तो होता नहीं संवेदना है संवेदनाओं को सृष्टि करने के लिए हम कितने भी काम करें वो तृप्त होता है और तृप्तोदय ना होने से क्या होता है केवल अपराध मनुष्य तृप्ति से समाधान मनुष्य अपने तृप्ति से समाधान को प्रमाणित करता है अतृप्ति से अपराध को प्रमाणित करता है ये दो विचार है अपने को तृप्त रहना है कि अतृप्त रहना है तय करना है हम सभी उसी के लिए यहाँ प्रस्तुत हुए हैं हम हमारा अपना मूल्य समय को देख करके यहाँ उपस्थित कई रहे हुए हैं हम संवेदनाओं के संवेदनाओं को सत्य में लगे रहना है या संवेदनाओं को नियंत्रित कर रहा है उसको तय करने के लिए यहाँ पर सत्य पहला बात तो यही है वहीं से पूरा बात करना विकल्प की जरूरत पड़ती है ये सत्य होना है अभी तक सत्य के लिए हमारे पास कोई सोर्स नहीं जो उसके उसके बारे में अनुरोध किया पहले से कि जो लक्ष्मण बोल रहे हैं से छूट गया रहस्य में किया कल्याण हमारा कल्याण भी रहस्यमय है आदर्शवाद के अंतर और शुरुआत है रहस्य से इसमें हम पाप नहीं पाए अभी अभी दूसरा आया सुविधा संग्रह वाला सुविधा संग्रह के सत्य बिंदु होते हैं कितने भी सुविधा पैदा करें और पैदा करने के लिए आवश्यकता ही रखता है उसके लिए फैक्ट्री लगाएगा प्रौद्योगिकी लगाएगा ठीक है और जितने भी संग्रह करें और उसके आगे की संख्या रखा है इन दोनों तथ्य को दोनों घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मनुष्य का सुविधा संग्रह के पीछे पड़े रहना है या समाधान समझने तो के पीछे पड़े रहना उसको अपने को निर्णय लेना है पहले वाला बात क्या हुआ समय धर्मों को समय धर्मों के भागना है समय धर्मों को नहीं करते उसके बाद क्या है सुविधा संग्रह के पीछे दौड़ना है या नए समाधान समस्या के पीछे दौड़ना ये दो बात समय समझे समझदारी समाधान समस्या के पीछे दौड़ना है समझदारी अवश्य भावी अवश्य समझदारी क्या चीज है सहज रूप वेद को समझना उसके तो सहस्त्र में जीना ये बात बनता सहस्त्र में देने देने की स्थिति में हम न्यायपूर्वक देने वाला बात बनता न्यायपूर्वक देने की स्थिति में किसी किसी के ऊपर किसी का आपत्ति किसी के किसी के ऊपर किसी का भाव कोई शिकायत बनता तो यदि हम सहस्त्र को छोड़ देते हैं छोड़ते हैं तो क्या क्या हुआ है आज तक व्यक्तिवादी विधि से यह समुदायवादी विधि से जीने के अनुसार जरूरतें समस्याएं तैयार करें क्या करना है मानव को एक मानवत्व के साथ जीने पर हम व्यक्तिवाद कर उसके लिए क्या व्यवस्था दी है तो चेतना विकास नाम की चीज चेतना विकास नाम की चीज देने पर वो व्यक्तिवाद का दोनों समान और यदि समझ नहीं देते हैं तब हम समझे हैं कि उसका प्रमाण वहीं का है ऐसे प्रमाण करता तभी अपना सत्यापन प्रस्तुत करेंगे वो आप विश्वास कर सकते हैं ठीक है ये एक ठीक इससे इतने कह करके हम ऐसा आशीर्वाद देना चाहते हैं आशीर्वाद का वर्ग नमन का वर्ग है ना ये नमन कैसे कई करेंगे आप लोग सब शुभ चाहते हैं इसलिए आपको ना आशीर्वाद में इस बात के लिए आप सब सफल सफल हो इस बात के आशीर्वाद बस इतने इतने कह करके हम थोड़ा सा यहाँ जो पद इसके ऊपर कितने भी पूछना है उसके वो सब स्वागत उसके उत्तर हमारे पास तो धरती पर जो कुछ भी समस्या है उसका उत्तर हमारे पास ठीक है ये थोड़ा प्रोत्साहित